चतुर्थ मंत्र का वाक्य भाष्य में तेसरी पृष्ठ में चल रहा था जड़ ये तद तो उत्तम भवती से चलेगा अभी साक्षी प्रत्येक बोध का साक्षी बोध है ज्ञान प्रत्यय भी कहते हैं बुद्धि का परिणाम है अंतकरण वृत्ति है जितने वृत्ति जड़ है वो चेतन से व्याप्त है चेतन से व्याप्त होकर के वो प्रकाश जैसे लगता है स्वाभाविक प्रकाश तो जड़ में नहीं है सब शरीर में बुद्धि के जो वृत्ति परिणाम प्रत्यय उसे व्याप्त होकर के चेतन रहता है जिससे व्याप्त होकर के जड़ भी चेतन जैसे लगता है वृत्ति भी चेतन जैसे लगती है वह व्यापक चेतन बिंब रूप ब्रह्म है इसका स्पष्टीकरण एतदुक्तम भवती अभी प्रत्येक शरीर में अलग अलग वृत्ति का साक्षी अलग अलग होगा प्रमाता तो अलग है अंतकर्ण भिन्न होने से तत्त अंतकर्ण विशिष्ट चेतना जीव प्रमाता भिन्न है साक्षी एक है अथवा भिन्न है उसमें कहीं कहीं प्रक्रिया में वेदांत परिभाषा में जीव साक्षी ईश्वर साक्षी ऐसे वेद किया वास्तव सिद्धांत में साक्षी एक है एक ही चेत साक्षी सर्वत्र व्यापक है वही सब प्रत्यय का साक्षी है तो उसमें आपत्ति है साक्षी यदि एक है तो सब का सुख दुख भान हो साक्षी तो सब के सुख दुख को प्रकाश करता है किंतु आप जब कहते मैं सुखी दुखी वो प्रमाता कहता है प्रमाता अपने अंतकरण वृत्ति विशिष्ट चेतन उसमें जितने सुख दुख तद विशिष्ट को कहता है जी प्रमाता के साथ साक्षी का तादात्म्य होता है वहीं वो कहेगा सुख दुखम हम सुख हम दुखी साक्षी का तादात्म्य सारे प्रमाता के साथ अलग-अलग प्रमाता भिन्न-भिन्न होने से सब का तादात्म्य जिस प्रमाता के साक्षी का तादात्म्य होता है उसी प्रमाता में होने वाले सुख दुख का ये वो कथन करेगा अन्य प्रमाता नहीं कह सकता है बिंब रूपे के चेतन होने पर भी दर्पण यदि अनेक है जिस प्रतिबिंब के साथ उसका तादात्म्य होता है उसी प्रतिबिंब में कंपन दर्पण में दिखेगा अन्य प्रतिबिंब में अन्य तो नहीं दिखेगा इसी प्रकार एक चेतन साखी का तादात्म्य प्रमाता के साथ होने से जिस अंतकर्ण में प्रमाता के साथ तादात्म्य हुआ उसमें ही तद अंतकर्ण के कंपन उसमें दिखेगा सुख दुख वृत्ति आदि एक ही बिंब का प्रतिबिंब अनेक दर्पण में है किंतु दर्पणगत तत्त दर्पणगत प्रतिबिंब टेढ़ा मेढ़ा महिला आदि उसके प्रतिबिंब में दिखेगा अन्य प्रतिबिंब नहीं दिखेगा इसी प्रकार जिस तादात प्रमाता के साथ साक्षी का तादात्म होता है प्रमाता चिदाभास के समान है ये प्रतिबिंब के समान है उसके साथ तादात्म होने से तद उपाधि अंतकणगत सुख दुख को जानता है एक ही साक्षी है एक साखी कैसे उसके स्पष्टीकरण श्रोत्र शरीरावच्छिन्न बौद्ध प्रत्यय साक्षी एक स्तमर्थ श्रोता के शरीर श्रोता ज्ञाता तो यहाँ श्रोता इसलिए कहते हैं जो तत्वमसी महावाक्य सुनेगा वो श्रोता है जीव शिष्य श्रोता शरीरावच्छिन्न आत्मा तो व्यापक है तत्सर्र तत्सर्ग अवच्छिन्न भिन्न भिन्न है जिस प्रकार आकाश एक के व्यापक होने पर भी घटाकाश मठाकाश गुहाकाश अलग-अलग कहा जाता है श्रोत्र शरीरावच्छिन्न जो आत्मा में बौद्ध प्रत्यय साखी वो शरीरावच्छिन्न साखी है कि उसके बौद्ध प्रत्यय बुद्धि में होने वाले जो प्रत्यय उसके साखी एक तमर्थ वो तमर्थ तुम शब्द का अर्थ तत्वमसि महावाक्य में तम शब्द का अर्थ त तो शब्द का अर्थ निश्चय करना है तम शब्द का अर्थ है जो स्वयं अहम आप अपने को जानते हैं मैं ही हूँ तो आप अपने बुद्धि में जो होने वाले वृत्ति उसी प्रत्यय का आप जानते हैं उत्तम शब्द का अर्थ हुआ श्रुति सर्रावचन बौद्ध प्रत्यय साक्षी है समर्थ तद इतर सर्व सर्रावचन सबके शरीर में भी बुद्धि में प्रत्यय होता है वृत्ति होती है अलग अलग सब जितने आपके शरीर को छोड़कर बाकी शरीर जितने तद अवचन जितने प्रत्यय अंतकरण में वृत्ति है उसका साक्षी एक तदर्थ वो तत्शब्द का अर्थ हुआ सारे वे शरीर में होने वाले बौद्ध प्रत्यय की साक्षी एक हुआ और आपका शरीर में होने वाले बौद्ध प्रत्यय साक्षी एक हुआ आपके शरीर में बहुत प्रत्येक के तो तम पद का अर्थ बाकी जितने प्रत्येक के साक्षी तत्पदार्थ किंतु तम पदार्थ तत्पदार्थ चिन्मात्र है चेतन चिन्मात्र जिस प्रकार आकाश घटाकाश हो मठाकाश हो आकाश का भेदक ना घट होता है ना मठ होता है आकाश व्यापक है आकाश को भेद करने के लिए कोई पदार्थ अभी तक नहीं कोई पदार्थ नहीं आकाश को दो भाग कर दे दीवाल के अंदर आकाश है दीवाल के बाहर आकाश है जहाँ दीवाल है वहाँ भी आकाश है तो आकाश का विभाजन किससे हुआ नहीं हो पाया विभाजन तो तभी होता इधर अंदर आकाश अलग बाहर आकाश अलग घड़ा में जल रख करके थोड़ा जल रख करके पानी में थोड़ा डुबाएंगे तो अंदर पानी अलग बाहर पानी अलग तो ऐसे कुछ पानी दे करके गंगा जी डुबा कर रखते थे दूध डुबा कर रखते थे रात को सुबह लेकर बिक्री करते हैं डब्बा बड़े-बड़े डब्बा में ऊपर बंद करके दूध को रख कर देते हैं ऊपर गाँव ठंडा में ठीक रहता है सुबह उसको लेकर बिक्री करते हैं दूध अंदर रहा पानी बाहर रहा क्योंकि बर्तन जो है वो विभाजक हो गया और यदि ऐसे बर्तन में नहीं रह कर कपड़ा में बांध कर रखेंगे दूध को सुबह क्या निकलेगा पानी थोड़े रहते रहेगा इसमें <laughs> दूध तो नहीं मिलेगा और जाली के रखेंगे तो मिल जाएगा ये विभाजक काच आलो का विभाजक होता है नहीं होता है कांच लगेंगे तो बाहर प्रकाश अंदर आ जाता है जिस प्रकार कांच भी आलो का विभाजक नहीं वायु का विभाजक हो जाएगा जल का विभाजक हो जाएगा आलो को विभाग नहीं कर सकता आलो को अंदर घुस जाता है इसी प्रकार सौ के अंदर आकाश प्रविष्ट है आकाश का विभाजक कोई नहीं आकाश में कोई भेद नहीं केवल ना हम कहते अलग अलग घटाकाश मठा मठाकाश अलग अलग इसी प्रकार चिन्मात्र चेतना का कोई विभाग नहीं है शरीर के अंदर बाहर चिन्मात्र व्यापक है लगता है देह में तो चेतन है बाहर कहाँ चेतन है हम चिदाभास को चेतन समझ करके ढूंढते बाहर कहाँ चेतन है दीवाल में कहाँ चेतन है दीवार में चेतन है दीवाल शुद्ध चैतन्य सर्वत्र है दीवाल में भी है दीवाल में दिखता नहीं वहाँ चिदाभास नहीं है शुद्ध चैतन्य व्यापक है चिन्ह मात्र दीवाल में रहेगा जीव में रहेगा खाली स्थान में शुद्ध चेतन रहेगा सर्वव्यापक है तो चिन्ह मात्र का व्यावर्तक धर्म अनुपलम्बाद उसका भेदक कोई नहीं होता है भेदक धर्म कुछ नहीं किस धर्म से उसका विभाग हो जाएगा देह के अंदर चिन्ह मात्र में कोई धर्म अलग बाहर चिन्ह मात्र में कोई धर्म अलग ऐसा नहीं जो भेद दिखता है चिदाभास में देह के अंदर चिदाभास है दीवार में चिदाभास नहीं है ये तो भेद है चिन्ह मात्र बिंब रूप चिन्ह मात्र में व्यावर्तक भेदक कोई धर्म नहीं है उसका विवाह करने के लिए कोई है ही नहीं विभक्तत्वेच अनात्मत्व आदि दोष प्रसंगात यदि आत्मा से भिन्न कोई होगा तो अनात्मा हो जाएगा अनात्मत्वम आदि से जड़त्वम परिचिन्नत्वम अनित्यत्वम इसो आ जाएगा आत्मा से भिन्न नहीं अनात्मा सब हो जाएगा इसलिए जो साक्षी आत्मा है उसका विभाग नहीं है संभावितम एकत्वम सर्वत्र एकत्वम संभावित संभव है आकाश के समान जो आकाश के समान व्यापक चिन्ह मात्र है तदेव ब्रह्मत्वम विधि उसको ब्रह्म समझो पहले कहा वाक्य जे बुद्धि वृत्तता मृत्यु अविषयता प्रकाशते ब्रह्मास्मिति तत्त्वमसि महावाक्य से बुद्धि की वृत्ति ज्ञान होता है क्योंकि ज्ञान प्रमा है प्रमाण से उत्पन्न होगा प्रमाण है महावाक्य तत्त्वमसि आदि महावाक्य वाक्य ज वाक्य से उत्पन्न होने वाले बुद्धि की वृत्ति वृत्ति के साथ संबंध वाक्य ज वाक्य ज बुद्धि नहीं बुद्धि वृत्ति बुद्धि का परिणाम जब घट को देते घटाकर वृत्ति होती पट को देते तो पटाकर वृत्ति होती सुख अनुभव करते तो सुखाकार वृत्ति होती है इसी प्रकार मधुर खाते तो मधुराकार वृत्ति होती है ब्रह्म का जो वेदांत श्रवण मनन करते हैं तो हम अस्म ब्रह्म इसे अंतकरण का परिणाम वृत्ति होती है वो बुद्धि वृत्ति वो बुद्धि वृत्ति है ब्रह्माकार वृत्ति ब्रह्म को विषय करने वाली वृत्ति को ब्रह्माकार वृत्ति कहती है वही ज्ञान है यद्यपि वृत्ति जड़ है उसमें चेताभास के संबंध से प्रकाश जैसे लगती है उसको ज्ञान शब्द से कहते हैं उसी वृत्तो अविषयतया प्रकाशते वृत्ति में ब्रह्म प्रकाशित है ब्रह्म कैसे अविषयतया जैसे वृत्ति का विषय घट अयम घट इदम पुष्पम इदम मधुरम ये तो ज्ञान होता है अनात्मात्म भिन्न का आत्मा का ऐसा इदम नहीं अविषयत्व विषयत्व नहीं होगा क्योंकि जो चिद भाष्य चेतन से प्रकाश होता है विषय होगा चिद भाष्य तो चेतन से जो प्रकाश है उसको कहेंगे चिद भाष्य उसमें रहेगा चिद भाष्यत्वम चिद भाष्यत्वम जड़ में रहेगा चेतन में नहीं और जो चेतन शुद्ध चेतन वो चिद भाष्य या जड़ भाष्य चिदभाष्य तो नहीं क्यों कि स्वयं चेतन और जड़ से प्रकाश कहाँ होगा इसलिए वो स्वयं विषय नहीं होता है चेतन के द्वारा जब प्रकाशित होगा वह विषय होगा चिदभाष्य होगा विषय आत्मा चिद भाष्य नहीं आत्मा स्वयं चिद है भाषक है दृग मात्र इसलिए चिद भाष्य तो उसमें नहीं रहने से विषयतया नहीं अविषयतया प्रकाशते ब्रह्म प्रकाशित होता है अविषयतया अभिषेयत्वात इदम ब्रह्म तद ब्रह्म से नहीं कर सकते फिर कैसे होगा ब्रह्मास्मि ते अहम अस्मि ब्रह्म त्वम पद का लक्ष्यार्थ शुद्ध चिन्ह मात्र है वही ब्रह्म है साधक को ऐसा निश्चय अहम अस्मि ब्रह्म साधक पहले तो हम शब्द से देहादि संघात को ले लेता है विचार करता अहम ब्रह्म सोता हमारा आत्मा कहीं दूसरा है वही ब्रह्म है देहादि संघात अहम अब मेरा आत्मा ब्रह्म है आत्मा जैसे कोई अलग रखा वृक्ष के को, कोटरे में क्या रख रहा स्वयं आत्मा अहम देहादि संघात नहीं है विचार करने पर त्वम पद का लक्ष्यार्थ चिन्ह मात्र है वही चेतन आत्मा में हूँ ऐसा निश्चय जो हो जाता है देहादि में नहीं हूँ देह इंद्र मन पान बुद्धि सौ जड़ है परिचय है उपाधि है मैं तो दृक् चिन्ह मात्र वो चिन्ह मात्र एक ही सर्वव्यापक है तो अविषयत्व न अहम अस्मि ब्रह्म इसे प्रकाशमान होता है यस्मा तान अन्य अन्यान जड़ान अवभासेति तदन्य भाषा आत्मा भाष्य में दिया सर्वप्रत्यस्त लोहवत नित्य विज्ञान स्वरूप आत्मव्याप्तत्वाद विज्ञान स्वरूप भाषास तदन्य भाषस्य आत्मा जितने बहुत प्रत्यय है तो विज्ञान स्वरूप भाषा विज्ञान स्वरूप में भान होते हैं तद अन्य भाषा च आत्मा तद अन्य आत्मा से भिन्न सब का प्रकाश के आत्मा आत्म तद अन्य तान जित जड़ान अन्यान आत्मा से भिन्न कौन होगा अनात्मा वो जड़ा हो जड़ा होगा जड़ान अभाषिता अन्यान अभाषित तदन्य भाष तदन्य भाष कौन होगा आत्मा जड़ को प्रकाश करने तदन्य आभास आत्मा सर्व जड़ विलक्षण क्योंकि अन्य हो गया जड़ दिग है आत्मा वो सब जड़ से विलक्षण है जड़ विलक्षण अवगंतुम शक्यते उसको निश्चय कर सकते जड़ से विलक्षण क्योंकि जड़ है प्रकाश्य और प्रकाश को से भिन्न है तस्माद इतुपहास संहार तस्माद प्रतिबोध अवास प्रत्येगात्मतया आत्मतया यद विदितं तद ब्रह्म प्रतिबोध अभास प्रत्येक आत्मतया प्रत्येक बोध बोध रूप जो अभास है उसका प्रत्येक आत्मा है प्रत्येक उसका स्वरूप आत्मा ऐसे जो विदित ब्रह्म तद ब्रह्म तदेव मतम ज्ञातम अहम अस्मि ब्रह्म तदेव सम्य ज्ञानम वही सम्य ज्ञान जो अहम अस्मि ब्रह्म यत् प्रत्येगात्म विज्ञानम अहम अस्मि प्रत्येगात्मा को जानना ब्रह्म रूप से वो विज्ञान अब प्रत्येगात्मा को नहीं अपने से भिन्न रूप से जाना वो ब्रह्म ज्ञान समय ज्ञान नहीं है न विषय विज्ञान विषय विज्ञान नहीं है विषय का ज्ञान तो घट ज्ञान होता है घटो अस्थि उसमें अस्थि सदरूप से ब्रह्म का ज्ञान भी है विषय का भी ज्ञान है विषय से युक्त होने से शुद्ध ब्रह्म नहीं है विषय विज्ञान है विषयत्व ने ज्ञान आत्म आत्मत्व है ना अहम अस्मि ऐसे ज्ञान होता है प्रत्यगात्मा नाम इच्छदिति च काटके कठोपनिषद का कश्चित धीर प्रत्यगात्मा नाम इच्छद कोई धीर आत्मा अहम अस्मि से जानता है टीका में प्रतिबोधम अवभाषा चित्त प्रतिबिंबा प्रत्येक बोध में प्रकाश होते चित्त प्रतिबिंब चिदाभाषे जितने चिदाभाषे प्रत्येक के जैसे दर्पण में जैसे मुख का प्रतिबिंब दिखता है उसको कहते हैं मुखाभास दर्पण जो मुखाभास देखा दिखते हैं उनका वास्तव स्वरूप बिंब ही है इसी प्रकार सारे अंतकण में अंतकण के परिणाम में वृत्ति में वृत्ति का अर्थ प्रत्यय ज्ञान प्रतिबोधम प्रत्येक बोध में चेतन का प्रतिबिंब दिखते हैं चिदाभास उनका वास्तव स्वरूप आत्मा ही बिंब है तेषां प्रत्येक आत्मतया प्रत्येक आत्मतया अव्यभिचरित स्वरूपेण बिंब एकेन रूपेण यद ब्रह्म वेदनम तत्सम्यक दर्शन अर्थ जितने चित चित, चित प्रतिबिंब चिदाभास है उनका प्रत्येक आत्मा उनका वास्तव स्वरूप दर्पण बहुत दर्पण में जितने प्रतिबिंब है सारे प्रतिबिंब का वास्तव स्वरूप एक बिंब एक बिंब का प्रतिबिंब अनेक दर्पण हो सकता है एक साथ हो सकता है एक समय में एक समय में एक बिंब का प्रतिबिंब अनेक दिख सकता है दर्पण दिखता है सब का वास्तव स्वरूप बिंब है प्रतिबिंब हजार है तो बिंब कितने होंगे हजार एक बिंब का हजार प्रतिबिंब हो सकता है अभी ये बिंब वास्तव स्वरूप किस प्रतिबिंब का है किसी का नहीं सारे प्रतिबिंब का वास्तव स्वरूप बिंब है इसी प्रकार सारे प्रत्यय में ज्ञान में जो चित्त प्रतिबिंब है चिदाभास है उनका प्रत्यगात्मा है ब्रह्म प्रत्यगात्मतया विदितम तद ब्रह्म उनका प्रत्यात्म ही ब्रह्म ऐसा जो ज्ञान हुआ तदेव मतम वही ज्ञातम सम्य ज्ञान हुई सारे वृत्ति चिदाभास ज्ञान है प्रत्यय उनका वास्तव स्वरूप ब्रह्म है तदेव सम्यक ज्ञानम तदेव सम्यक यह के अधिक है सम्य ज्ञानम यत प्रत्यगात्म विज्ञानम प्रत्यगात्म विज्ञान अहम अस्मि ब्रह्म ये तत् सम्य ज्ञानम न विषय विज्ञानम विषय विज्ञान इदंत नहीं ज्ञान होगा तद इदम वो वास्तव ज्ञान नहीं है ठीक है मैं प्रतिबोधम अभाषा चित्त प्रदेन तेषां प्रत्यगात्मतया अव्यभिचरित स्वरूपेण घटपट आदि का व्यभिचार होता है घटपट नहीं पट घट नहीं घटाकार वृत्ति पट कार वृत्ति से भिन्न है पटाकार वृत्ति मधुराकार वृत्ति से भिन्न है वो सब हुई तो बुद्धि अंतकर्ण सब का अलग अलग है वृत्ति भिन्न भिन्न है आपके अंतकर्ण में होने वाले वृत्ति सब एक नहीं भिन्न भिन्न है कोई घट विषय कोई पट विषय व्यभिचारी है किंतु सारे बिंब प्रतिबिंब चिदाभा वृत्ति में बिंब स्थानीय चित्त एक है जिस प्रकार घटमट आकाश अलग-अलग घटमट अलग है आकाश एक है इस बार सर्वत अविवैचित स्वरूपेण बिंब स्थानीय न और बिंब स्थानीय चित्त बिंब स्थानीय चित्त व्यापक है सर्वत्र चिदाभास भिन्न भिन्न होने पर भी बिंब स्थानीय चित्त एक एक न रूपेण और जो बिंब स्थानीय चित्त उसमें भेद है एक स्वरूप ही एकेन रूपेण यद ब्रह्म वेदनम अहम अस्मि ब्रह्म तत् सम्यक् दर्शन वही सम्यक् दर्शन अहम अस्मि अहम कौन से अहम सर्वं चैदम ब्रह्म एक रूपेण और परिचन्न में और बाकी अन्य सब अब्रह्म ये नहीं सर्वं चैदम अहम ब्रह्मैव यही सम्यक् दर्शन है विषय विज्ञानम सम्यक् ज्ञान न भवति तत्र हेतु महा विषय ज्ञान सम्यक् ज्ञान ही होगा विषय तो ने जिसको हम विषय करते हो चिद बात्स्य हुआ जड़ हुआ ब्रह्म ज्ञान नहीं है ब्रह्म तो दृग रूप है विषय विज्ञान समय ज्ञान नहीं होगा हेतु देता आत्मत्वेन आत्मस्वरूप आत्म स्वरूपन पर विषय ज्ञान है स्वयं है तो स्वयं आत्मा होने के कारण विषय रूप से ज्ञान है विषय तो उसे भिन्न आत्मा से भिन्न चेतन है आत्मा तद भाष्य जितने उसे भिन्न होगा आत्मत्वेन ठीक है ब्रह्मण आत्मत्वेन विषयत तो संभवातीत अर्थ ब्रह्म आत्मा ही है आत्मा होने से विषय नहीं हो सकता है विषय तो होता है जो अनात्मा आत्मा भिन्न ब्रह्म आत्मा होने से विषय नहीं हो सकता है घटपट आदि विषय हो गए ज्ञान का किंतु ब्रह्म नहीं होगा अद्वैतानंद रूपस्य सर्वकिंत्वादि धर्मकस्य ब्रह्मण शास्त्रीय समधिगम्यत्वात् तटस्थ से अपरिचित न संभवति किंतु प्रत्येक रूपेण अभिप्रेत्य काठ के भी विशेष निमित्त अर्थ प्रत्यगात्मान मैच्छदिति च काठ के कठोर उपनिषद में आनंद रूप से जो ब्रह्म है अद्वय है ये आनंद है अद्वय भी है आनंद है उससे वितरित कोई नहीं अनुभव वो सर्वज्ञता तो आत्मादि धर्म कस्य उसमें सर्वज्ञ तो सर्वसत्यमता आदि धर्म माया से दिखता है वो धर्म कोई पारमार्थिक नहीं है व्यवहार काल में सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर को कहते हैं वैसे धर्म वाला सर्वज्ञता धर्म कस्य धर्म वाला जिस प्रकार मरुभ में जल दिखता है जल धर्म मरुभ में है इसी प्रकार ब्रह्म में सर्वज्ञत्व सर्वशक्तिमत्व मरुमर्ची का जल के समान है दिखता है अज्ञान अवस्था में ईश्वर कल्पना करते सर्वज्ञत्व आदि माया के निवृत्त होने पर ब्रह्म शुद्ध चेतन रहेगा वो सर्वज्ञ रहेगा सर्वशक्तिमान होगा कुछ नहीं माया से ही सर्वज्ञ तो तो अद्वयानंद रूप सर्वज्ञत्वाति धर्म कसे सर्वज्ञत्वादय धर्म यस्मिन प्रतीयन्ते धर्म का आश्रय है ब्रह्म वो ब्रह्म का ज्ञान किस प्रमाण से होगा प्रत्यक्ष चक्षुर इंद्रिय से त्वग इंद्रिय से किसी ज्ञान इंद्रिय से होगा अथवा अनुमान कर लेगा ये कुछ नहीं मन से ज्ञान हो जाएगा कुछ नहीं प्रमाण से ज्ञान होगा शास्त्रिक समधिगम्यत्वात् तो शास्त्र प्रमाण से उसका ज्ञान होगा शास्त्र से ज्ञान होगा अहम ब्रह्म शास्त्र प्रमाण से जो ज्ञान होगा शास्त्र भी कैसे ज्ञान करेगा जैसे यजित तो स्वर्ग काम स्वर्ग का ज्ञान होता है या आगे स्वर्ग साधन स्वर्ग आप है या आप यागे स्वर्ग आपसे भिन्न है तटस्थाप होकर के याग स्वर्ग अलग है इसी प्रकार ब्रह्म को आपसे भिन्न रूप से श्रुति ज्ञान कराएगी ऐसा नहीं तटस्थ नहीं तटस्थ से अपरिचित न संभवती ईश्वर को जी तटस्थ मानेंगे आपसे भिन्न तटे तिष्ठति तटस्थ प्रवाह में जाने वाला तटस्थ है तटस्थ तो बैठ कर देख रहा है कड़ा है पेड़ कड़ा है और गंगा जाने बहन वाला बह जाता है तटस्थ से अपरिचित तटस्थ स्वयं तटे तिष्ठति तटस्थ ब्रह्म है अपने से भिन्न है यदि होगा तटस्थ से अपरिचित तो न समझती जो तटस्थ है वो नहीं होगा आपसे भिन्न है तटस्थ तटस्थ से अपरिचित नहीं होगा हम अस्मि से अपरिचित नहीं होगा वो तो भिन्न है एक बहता जाता है पानी और एक खड़ा है जो तटस्थ है वो अपरिचय एक अभिन्न नहीं है किंतु प्रत्येक रूपेण वित अभिप्रत्य का ज्ञान प्रत्येक रूपेण होगा इदंत न तत्व नहीं तद ब्रह्म असो ब्रह्म ऐसा नहीं प्रत्येक रूपेण अहम अस्मि अहम अस्मि से अपरिचय होगा और तद ब्रह्म कहेंगे तो नहीं अपरिचय नहीं होगा अभिवृत काठ के भी विशेषणम काठ के च का दिया प्रत्येकतया अपरोक्षम ब्रह्म ज्ञानम तदेव सम्य ज्ञानम प्रत्ययत्वेन अपरिचय अपरिचय ज्ञान प्रत्ययत्वेन अहम अस्मि वो ब्रह्म ज्ञानी सम्य ज्ञानम इतत्र को हेतु तो इसमें क्या हेतु तो इत्याशंक्य अपरिचय बंधाध्यासस्य परोक्ष ज्ञान निवृत्त संभवात अपरिच ज्ञान से तन निवर्तन अमृतत्व साधनत्वाद इति उक्त उत्तर वाक्यम संगृणाति अब सम्य ज्ञान प्रत्ययतन अपरिचय ब्रह्म अहम अस्मि ब्रह्म ऐसे जो ज्ञान अपरिचय ब्रह्म ज्ञान ही सम्य ज्ञान इसमें हेतु क्या है अपरिचय बंधाध्यास से बंध अध्यादास अपरिचय सुख दुख संसार जन्म मरण दुख आपको प्रत्यक्ष ज्ञान होता है जन्म को ही नहीं दिखता है अन्य के जन्म देख रहे अनुमान करते अरे बंध सुख दुख आदि बंध आरोप होता है अहम सुखी दुखी यह अपरिचय अपरिचय रूप जो अध्यास है उसकी निवृत्ति परोक्ष ज्ञान निवृत्त संभवात परोक्ष भ्रम तो परोक्ष ज्ञान से नष्ट हो सकता है अपरोक्ष भ्रम की निवृत्ति परोक्ष ज्ञान से नहीं होती है अपरोक्ष जी सर्प देखा जितने गुरु कहेंगे पिता कहेंगे सर्प नहीं सर्प नहीं नहीं माने हमें देखा सर्प सचमुच है देखने के लिए कहे जाओ देखो करे नहीं नहीं जाएंगे सर्प है परोक्ष ज्ञान से निवृत्ति नहीं होती है अपरोक्ष ज्ञान से अपरोक्ष भ्रम की निवृत्ति होती है यहाँ संसार बंध भी अपरोक्ष होने से अपरोक्ष ज्ञान से निवृत्त होगा अपरोक्ष ज्ञान से तन निवर्तन है ना अमृतत्व साधनत्वाद अपरोक्ष ज्ञान मोक्ष का साधन अज्ञान निवर्तक होकर के बंध का निवर्तक होकर के इति उत्तर वाक्यार्थम संग्रहणादि उत्तर वाक्यार्थ अमृतत्वं विन्दते प्रतिबोध विदितमतम अमृतत्वं विन्दते उसका संग्रह वाक्य भाषा में अमृतत्वम ही विंदत इति हेतु वचनम विपरे मृत्यु प्राप्ते ये संग्रह वाक्य हुआ अमृतत्वम ही विंदते क्योंकि अमृतत्व को प्राप्त करता है इसे ज्ञान से इसलिए सम्य ज्ञान है हेतु है विपरे मृत्यु प्राप्त नहीं तो ऐसे ज्ञान नहीं होगा तो मृत्यु को प्राप्त करेगा सूत्रम विभजते सूत्र कहाँ है अमृतत्व विन्दत इति हेतुवचनम विपरे मृत्यु प्राप्ते ये सूत्र है किस अध्याय में है ये सूत्र कौन सा सूत्र अष्टादि सूत्र ये सूत्र यहाँ वेदांत में यही ब्रह्म सूत्र भी नहीं ये भाष्य में संग्रह वाक्य को सूत्र कहा सूत्र संग्रह रूप होता है वाक्य भाष्य में से सूत्र संग्रह वाक्य बना करके व्याख्या करते हैं सूत्रम विभजित का व्याख्या करते हैं विषयात्म विज्ञान ही मृत्यु प्रारभत इति आत्मविज्ञानम अमृतत्व निमित्तमिति युक्तम हेतुवचनम अमृतत्व ही विन्दते इति विषयात्म विज्ञान ही मृत्यु प्रारभते विषयात्म विज्ञान होगा तो इदम तेन ज्ञान होगा तो वो ज्ञान अज्ञान के निवृत्त का प्राय का प्रारंभ जन्म मरण फिर चलता है इति आत्मविज्ञानम अमृतत्व निमित्तम इति आत्मविज्ञान अमृतत्व क्या निमित्त है आत्मविज्ञान से अमृत तत्व की अभिव्यक्ति होती है इसलिए निमित्त का यदि युक्तम हेतु वचनम इसे जो हेतु दिया अमृत तत्व में ही विंदते ही का दशमा क्योंकि अमृत तत्व प्राप्त करता है प्रतिबोध विदितम प्रत्येक बोध रूप में साक्षी रूप से ब्रह्म है अहम अस्मि ऐसे ज्ञान उनसे अमृत तत्व की प्राप्ति होती इसे सम्य ज्ञान सम्य ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होगी अमृतत्व ही बंधते थी आत्मज्ञान अच्छा टीका में विशेष बुद्धि आदि से आत्मविज्ञाने विषयतया व से उपास्यतया ज्ञाने मृत्यु पारवते भयम इति प्रसिद्ध विशेष आत्मविज्ञाने विशेष बुद्धि आदि से बुद्धि आदि विषय है प्रकाश्य है चेतन के द्वारा उसमें आत्मविज्ञाने बुद्धि आदि का आत्मा समझ लिया विषय वा एक का विशेष आत्मा विज्ञान दूसरा विषय विषयतया आत्मा विज्ञान विशेषु केसु बुद्धि आदि सु आत्मा अहम ज्ञान हो अथवा विषय विषयतया विषयतया वा व्यतिरिक्त से उपास्यतया ज्ञाने विशेषु अथवा विषय विषयतया विषय में आत्म विज्ञान अथवा विषय विषयत्वेन आत्मा का विषय विषयत्वेन कैसे व्यतिरित से आत्म भिन्न से विषयतन ज्ञान होता है विषय हो गया व्यतिरित हो गया आत्म विषय चिदभाष्य विषयतया ज्ञान हो गया तो उपास्यतया ज्ञान है तो ब्रह्म उपास्य है मेरे उपासक हूँ ऐसा ज्ञान होगा तो मृत्यु प्रारभते मृत्यु आरंभ करती किम आरभते भयम इति प्रसिद्धम विषयत्वेन ज्ञान जब तक अन्यसु अन्यो अहमस्मी न सवेद अन्यत्वेन ईश्वर मेरे से भिन्न ऐसे ज्ञान है तो अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी ये प्रसिद्ध बुद्धि आदि संघातम आत्मान मन्यमानस्य उपासक से च कर्तृत्व भ्रमानिवृत्ते बुद्धि आदि संघातम आत्मान मन्यमानस्य बुद्धि आदि संघात को जो आत्मा मानता है बुद्धि अंतकरण देह संघात समुदाय उसको आत्मा जो मानता है उपासक वह वो होता है कर्तृत्व भ्रमानिवृत्ते मैं करता हूँ ये भ्रम की निवृत्ति नहीं होती है जब तक ऐसे भेद बुद्धि है अनात्म में आत्मबुद्धि है तब तो, तो कर्तृत्व भ्रम रहता है कर्तृत्व भ्रम स्वाभाविक है अज्ञान के कारण और कोई सिद्ध करने के लिए कर्तृत्व बड़ा प्रयत्न करे जीवन भर प्रयत्न करके आत्मा में कर्तृत्व सिद्ध करने के लिए पुस्तक लिखने लगा भक्तों बताने वाला लगा कर्तृत्व तो सिद्ध ही है जब आदि संघात में अहम बुद्धि है तो कर्तृत्व तो रहता है कर्तृत्व तो ब्रह्म की निवृत्ति नहीं होती इसलिए कर्तृत्व तो स्वाभाविक अज्ञान से ही दिखता है अथ ये अन्यथा तो विदुर अन्य राजानस्ते क्षय लोका भवन इत्यादि श्रुते ये अन्यथा तो विदु इससे अहम अस्मि ब्रह्म इसको छोड़ करके अन्य प्रकार जो जानते हैं वह ब्रह्म है तद ब्रह्म मेरे से भिन्न है ऐसा जो जानते हैं अन्य राजानस्ते अन्य राजान येषाम तन्य राजा न जिनका राजा अन्य हो वो सुखी है ना राजा नियामक है अन्य राजा है तो स्वयं स्वतंत्र नहीं है ते क्षय लोका भवन्ति क्षय लोक ऐसा विनाशी लोक को प्राप्त करते हैं जो अन्य था विदु असो अन्य अहम अस्मिति ऐसा जो जानता है मेरे उपासक मेरे से भिन्न मैं उपासक भिन्न हूँ ऐसा जो जानते हैं वो अन्य राजान अस्वतंत्र है उनका कर्म फल उपासना का फल क्षय क्षय जय सत्यार्थी नष्ट होने वाला विनाशी लोग होते हैं इत्यादि श्रुतिभ्य तरति शोकम आत्मवीद इति आदि श्रुति से च आत्मविज्ञानम अमृतत्व निमित्तम प्रसिद्धम ये अमृतत्व का निमित्त है तरति शोकम शोक पार कर लेता है आत्मविद इत्यादि श्रुतियों से आत्मज्ञानम अमृतत्व निमित्तम प्रसिद्ध मित्यथ भाष्य में अमृतत्व विन्दते इति हेतुवचन विपर हेतु मृत्यु प्राप्ते नहीं तो विषयात्म विज्ञाने मृत्यु प्रारभते इति आत्मविज्ञानम अमृतत्व निमित्तम इति युक्तम हेतुवचन कथन करना अमृतत्व विन्दते आत्मज्ञान ने किम अमृतत्व उत्पाद्यते पूरा पीछे पूछता है आत्मज्ञान से अमृतत्व प्राप्त करेगा प्राप्त करेगा मतलब क्या अमृतत्व उत्पाद्यते उत्पन्न हो जाता है ना उत्पन्न नहीं आत्मविज्ञान से अमृत की उत्पत्ति नहीं तो फिर कैसे कथनतरी आत्मना विन्दते स्वयं नित्य आत्म है अमृतत्व आत्मना विंद स्वयं स्वयं में प्राप्त कर लेता है अमृतत्व नित्य आत्म स्वभाव नित्य आत्म स्वभाव अमृतत्व इसलिए प्राप्त करता है अमृतत्व प्राप्त नित्य आत्म स्वभाव है अमृतत्वम बिंदते न आलंबन पूर्वकम किसी को आलंबन करके उपासना करके अमृतत्व प्राप्ति नहीं है आलंबन पूर्वक न है मैं न आलंबन पूर्वकमिति किंचित उपास्यम आलंबनीकृत्य तद न साध्यतया न कि आलंबन बनाते हैं उपास्य को मूर्ति आदि रख करके प्रतीक बना करके आलंबन करके उपासना करते हैं उपासना सार्थक है फल देगी किंतु वो आलम्बन करके जो उपासना है तो वो ब्रह्म ज्ञान नहीं है तद उपासना साध्यतया न बिंदते ब्रह्म को प्राप्त नहीं करता ऐसे उपासना साध्य उपासना से प्राप्त होगा उपासना कोई कर्म करके प्राप्त होगा तो अनित्य हो जाएगा कथन तरी विंदते इति प्रयोग यदि उपासना कोई आलम्बन करके उपासना करके उपासना साध्य रूप से प्राप्त नहीं करता है तो कैसे प्राप्त करेगा ब्रह्म को विंदते कथम प्रयोग आयाम आकांक्षायामः आत्मविज्ञान अपेक्षम बिंदते इति आत्मविज्ञान अपेक्षम आलंबन पूर्वक नहीं प्राप्त करता आत्मविज्ञान सापेक्ष आत्मा के ज्ञान से अज्ञान नष्ट हो गया वही प्राप्ति है आत्मविज्ञानम आत्मविज्ञान है ना सर्पत्व भ्रम निवृत्ति में अपेक्ष अमृतत्व उपचरति इत्यर्थ आत्मविज्ञानेन जैसे रज्जु ज्ञान से सर्पत्व भ्रम की निवृत्ति होती है क्या तो अच्छा तो आत्मा आत्मविज्ञान है ना मर्त्यत भ्रम निवृत्ति आत्मा का ज्ञान होने से मैं मर्त्य हूँ मरण धर्म वाला हूँ ये मर्त्यत तो भ्रम की निवृत्ति होती है मर्त्यत भ्रम निवृत्ति की अपेक्षा करके अमृतत्वम उपचर्यते अमृतत्व में बिंदते मर्त्य भ्रम नष्ट हो गया तो स्वभाव तो अमृतत्व है अमृतत्व प्राप्त प्राप्य थे क्या प्राप्त क्या करेगा वो गौण प्रयोग है मर्त तो भ्रम नष्ट हो गया तो अमृत हो गया अमृत तो उपचर्यते थे मुख्यार्थ माह मुख्यार्थ प्राप्त करेगा पहले अप्राप्तता प्राप्त करेगा ऐसे माने तो मानेंगे तो बाधक को कहते हैं यदि ही यदि ना यदि च हाँ, ची यदि यदि विद्युत्पाद्यम अमृतत्व स्यात् अनित्यम भवित कर्म कार्यवत यदि विद्या उत्पाद्यम विद्योत्पाद्यम अमृतत्वम अमृतत्व मुख्य ज्ञान से उत्पाद्य मानेंगे तो अनित्य हो जाएगा कर्म कार्यवत कर्म का कार्य फल स्वर्ग आदि अनित्य है क्या अनित्य है कौन स्वर्ग आदि कर्म कार्य अनित्य है इसी प्रकार विद्या उत्पाद्य होगा विद्या से उत्पन्न होगा तो अनित्य हो जाएगा कर्म कार्य के समान इसलिए अतो न उत्पाद्यम विद्या उत्पाद्यम न किम अमृतत्वम विद्योत्पाद्यम न यदि च आत्मनैव अमृतत्वम विन्दते किम पुनर्विद्या क्रियते इति उच्यते यदि आत्मन स्वभाव से अमृतत्व प्राप्त कर लिया विद्या से क्या करेगा अनात्म विज्ञान निवर्तयन्ति सा तनिवृत्त्या स्वाभाविकस्य अमृतत्व से निमित्तमिति कल्प्यते विद्या क्या करती है अनात्म विज्ञान निवर्तयति अज्ञान को निवृत्त करती सा तनिवृत्ति अपेक्षा अज्ञान निवृत्ति अपेक्षा यह निवृत्ति बीच में व्यवधान स्वाभाविक से अमृतत्व से स्वाभाविक है अमृतत्व उसके निमित्त कहते हैं अज्ञान की निवृत्ति कर देने से भ्रांति की निवृत्ति होगी तो प्राप्त होगी वस्तु माला गले में है अज्ञान है माला खो गई और कोई वाक्य से कहा माला गले में वाक्यान को नष्ट कर दिया अज्ञान नष्ट होते ही माला मिल जाती है अज्ञान माला नहीं है गले में ये ब्रह्म था और माला का ज्ञान हो जाएगा तो उसको प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा कुछ नहीं करना पड़ेगा मैं इसे मिल जाएगा क्या मिल जाएगा बोलो क्या मिलेगा हैं माला कैसे मिल जाएगा खो गई तो मिल जाए कैसे खो गई तो कैसे मिलेगी हाँ गले में है गले में ज्ञान होते ही मिल गई और उसको प्राप्त करने के लिए ना जाना ना आना शांत कर बैठना दौड़ने से कुछ नहीं मिलता अपने स्वरूप ज्ञान जानना जानने के लिए चाहिए इसी प्रकार अमृतत्व भी अपने स्वरूप है स्वाभाविक अनात्म विज्ञान निवर्तयन्ति अज्ञान को निवृत्ति करते हुई सा विद्या तनिवृत्त्या अज्ञान की निवृत्ति से स्वाभाविक से अमृतत्व से निमित्तमिति कल्प्यते कहते स्वाभाविक है अमृतत्व उसका निमित्त कह देते ज्ञान को टीका में अनात्म विज्ञात येन तद अनात्म विज्ञानम जो भाष्य में दिया अनात्म विज्ञानम निवर्तयति अनात्म विज्ञान क्या चीज है अनात्म विज्ञान है अविद्या अनात्म विज्ञात येन तद अनात्म विज्ञानम अनात्म जिसे जाना जाता है तद अनात्म विज्ञानम अनादि अनिर्वाच्यम आत्मा ज्ञानम आत्मन अज्ञानम अनादि अनिर्वाच्यम वो अज्ञान से अनात्मा जाना जाता है अज्ञान ही सब अज्ञान के कारण सब दिखते है अनात्मा अज्ञान के कारण भेद है अज्ञान केवल जाने नहीं जानेगा किंतु अज्ञान के कारण ही भेद दिखता है दिखते हैं जाने जाते हैं तो अनात्म विज्ञान हो गया अज्ञान अज्ञान को निवृत्ति करते हुए ब्रह्म विद्या स्वाभाविक अमृतत्व का निमित्त इसे कल्पना करते हैं पुनर् पुनर्ज्ञान बंध संकायाम कथम सकृद अज्ञान निवृत्ति न अमृतत्व निमित्तत्व ज्ञान से इत्याशंक्या एक बार अज्ञान नष्ट होने का बादल नष्ट हो गया फिर बादल आ जाता है फिर वर्षा होती एक बार अज्ञान नष्ट हो तो अज्ञान अंतरोदयन जो नष्ट हो गया वो नहीं आए दूसरे अज्ञान आ जाएगा आ जाइए तो बंध फिर हो जाएगा एक अज्ञान नष्ट किया फिर दूसरे अज्ञान आ गया बंध शंका होने पर कथम सकृत अज्ञान निवृत्ति मात्रेण अमृतत्व निमित्तत्व ज्ञान से एक बार अज्ञान नष्ट हो जाने से ज्ञान के अमृतत्व का निमित्त होगा एक बार नष्ट हो गया तो दूसरे अज्ञान आ जाएगा अनात्म सकृत ज्ञान निवृत्ति मात्र न सकृत अज्ञान निवृत्ति मात्र न एक बार ज्ञान हो गया अज्ञान नष्ट हो गया इतने मात्र से अमृतत्व का निमित्त ज्ञान कैसे होगा दूसरे अज्ञान आ जाएगा इसलिए कहते नहीं अतः वीर्यम विन्द्या विन्दते ज्ञान होने पर इसे वीर्य प्राप्त होता सामर्थ्य क्या करता है उसे वीर्यम सामर्थ्यम अनात्मा अध्यारप माया स्वांत ध्यानतान अविव्याप्य लक्षणम बलम विद्या विन्दते विद्या से जो बल प्राप्त करता है वीर्यम सामर्थ्यम भी प्राप्त करता है वो सामर्थ्य कैसा है बलम सामर्थ्यम आगे बलम और भला का क्या स्वरूप है अनात्मा अध्यारोप माया स्वांत ध्वांत अनभिभाव्य लक्षणम अनात्मा से अध्यारोप माया स्वांत ध्वांत अनात्मा जितने है अनात्मा है अध्यारोप माया आरोप है माया से स्वांत ध्वांत माया रूप स्वांत ध्वांतान विभाव्य स्वांत ध्वांत स्वांत है स्वांत अवच्छेद उसका अज्ञान उससे धांत अज्ञान से शांत धांत अनात्मा अध्यारोप वो अर्थ क्या मनुष्यत्वादि अभिमान उससे अनुचित अभिमान उससे अनभिभाव्य लक्षण बलम अभिमान माया इनसे अभिभूत दब जाता है अन्य सामर्थ्य किंतु ब्रह्म विद्या कृत जो सामर्थ्य है इस सामर्थ्य है ब्रह्म विद्याकृत सामर्थ्य और स्वाभाविक जो अनात्मा में अभिमान मनुष्यत्व आदि बुद्धि माया जीवत्व का निमित्त ज्ञान उसे दबता नहीं क्या क्या नहीं दबता है ब्रह्म विद्याकृत सामर्थ्यम देखो उसका अर्थ क्या अनात्मा अध्यारोप माया स्वांत ध्वांता अनभिभाव्य लक्षणम बलम विद्या से प्राप्त करता है स्वस्य अंतो अवच्छेद भवति येन न तत् शांत ध्वांतम स्वस्य आत्मन अंत अवच्छेद होता है जिसके द्वारा येन ध्वांतेन अज्ञानेन शांत ध्वांतम अनात्मा अध्यारोप वही अनात्मा अध्यारोप हुआ मनुष्य तो आदि अभिमान देह में मनुष्य मनुष्य की बुद्धि होने पर तो उससे अना आत्मा का अवच्छेद हो जाता है परिचिन्न हो जाता है आत्मा व्यापक होने पर अहम मनुष्य बुद्धि होने से परिच्छेद अवच्छेद हो गया उसी शांत धांत हो गया अनात्मा अध्यारोप और दूसरा पारमेश्वर शक्ति माया परमेश्वर से यम इति पारमेश्वर शक्ति पारमेश्वरी जीवत्व निमित्त अज्ञान जीवत्व का निमित्त अज्ञान ऐसे माया अविद्या एक है तो भी माया को विक्षेप प्रधान अज्ञान का आवरण प्रधान करके दो भेद ही बताते हैं कहीं कहीं शुद्ध सत्व प्रधान माया सत्व प्रधान अविद्या भेद बता निमित्तम अज्ञानम उसे जीवत्व तो होता है जीव की उपाधि स्वांत धांत होगा एते ही सर्वेर अभिभवन्यो न भवते आत्मा ये न विद्या अतिशय अतिशयन तद विद्यम विद्वान होते माया से अभिमान से और जीवत्व निमित्त अज्ञान से इनसे सर्वेर अभिभवन्यो न भवते आत्मा जितने भी अभिमान है वो शक्ति माया अज्ञान है कोई उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकते एते सर्वे अभिमावन्यो न भवति दबया नहीं आत्मा येन विद्या कृतेन अतिशयन क्यों नहीं दबता है क्योंकि विद्या कृत अतिशय एक बार ब्रह्म विद्या होने से तत्कृत अतिशय सामर्थ्य होता है विरह सामर्थ्यम विद्वान लभते बार बार बार बार चिंतन करने पर अतिशय हो जाएगा अतिशय क्या होगा तो ज्ञान दृढ़ हो जाएगा आगे अज्ञान दो बार आ जाएगा इससे संशय होगा नष्ट हो गया बिल्कुल समाप्त हो गया पारमिश शक्ति में आया जीवत्व नहीं तो अज्ञान शांत शांत इन सब से दबेगा नहीं अतिशय न तद वीर्यम विद्वान होते हुए अतिशय जिसको विद्वान प्राप्त करता है ज्ञान होने पर पूर्व सिद्ध से अज्ञान आदेर नाशात पूर्व सिद्ध अज्ञान का नाश हो जाएगा आगे अज्ञान अनादि अज्ञान की उत्पत्ति कब होगी अनादि अज्ञान की उत्पत्ति कब से हुई है उत्पत्ति हुई नहीं अनादि होने के कारण माया से स्वतः बंधक जीव बंधक तो माया स्वतः जीव बंधक नहीं दो सृष्टि बताई गई ईश्वर सृष्टि जीव सृष्टि माया से जो सृष्टि है ईश्वर सृष्टि ईश्वर सृष्टि जीव का बंधक नहीं है जीव सृष्ट द्वैत होता है बंधक ईश्वर सृष्ट है जो सामने वस्तु है व्यक्ति है ईश्वर सृष्ट है कोई फल पक्व फल आम गिरा ईश्वर सृष्ट है और जीव सृष्ट क्या है इष्ट अनिष्ट आदि कोई कहता है बहुत अच्छा है जिसका पेट खराब है आम कहे नहीं नहीं दूर सुगार बोले आम कहे नहीं नहीं प्रसाद भी लेना नहीं चाहिए छुएंगे नहीं इतने सुगार होता है तो मीठा कर पहले बहुत मीठा खाएंगे मना करने पर छोड़ेंगे नहीं बाद में सुगार तो डॉक्टर क्या चीनी नहीं खाओ फिर पूरा छोड़ देना पड़ेगा बड़ा कठिन है कोई कोई छिप कर जाकर दुकान में चाय पी लेते हैं कहीं घर बिना चीनी चाय पिलाते हैं सुगार तो बढ़ेगा नहीं ना छिप कर पिएंगे तो <laughs> एक स्वामी जी कह रहे थे सुकृताल में बोले यार तुम लोग को तो चीनी सारा जीवन भर खाते रहोगे हमको जितने खा ना था सो खा लिया अभी हम चीनी नहीं खाते हैं इस जीवन में जितने चीनी खाना था खा लिया पहले बाद में शांत ज़्यादा अपेक्षा नहीं चीनी के बिना चलता है अर्थात सुगार वन से चीनी निषेध है सेव लाएंगे तो बाजार से खट्टा देकर लाएंगे खट्टे खट्टे तो सेव खाएंगे <laughs> मीठा से हो तो प्रसाद दे देंगे खट्टे खट्टे सेव खाएंगे नमक लगा करके सुगार होने पर तो ये हम्म। हाँ जीव श्रेष्ठ द्वैत ईश्वर श्रेष्ठ द्वैत ईश्वर श्रेष्ठ द्वैत बंधक नहीं है जीव उसमें जो इष्टत्व अनिष्टत्व कल्पना करता उससे बंध होता है जीव कल्पना करता है इष्ट अनिष्ट ये प्राप्त मुझे हो जाए इच्छा करता है नहीं मिलेगा तो क्रोध होता है आम फल गिरा पेड़ से दौड़ कर गया अपने को नहीं मिला दूसरे को मिला उसको लगा दिया थापड़ा क्रोध हो गया अपने लेना था तो इस समय इष्ट तो अनिष्ट बुद्धियों से क्रोध हुआ अपने दुखी हुआ काचित मान मान समय होती काचित मनोमयी कोई स्त्री है लड़की है पिता के लिए पुत्री है पिता माता के लिए पुत्री है और पति के लिए पत्नी है और सौतनी के लिए सौतनी बड़े दूरी दूसरे के लिए कोई द्वेष करती है कोई द्वेष करती है कोई प्राप्त करके खुश है कोई प्राप्त नहीं करके दुखी और अपने परिवार में कोई उसका द्वेष करती सौत सौतनी कहते ना सौतला क्या है सौतन सौतन एक पति की दो पत्नी है हाँ? अभी भूल गया सौतन और दूसरे द्वेष करी उसके दूसरे पति के एक दूसरे पत्नी है तो उसको द्वेष करी पिता माता खुश है पति खुश है किंतु शत्रु देख करके देश करती ये एक ही स्त्री है अन्य अन्य दृष्टि से भिन्न है बच्चे उसको माता माता कहते पिता पुत्री कहती है और पति के दृष्टि से अलग है शत्रु की दृष्टि से अलग है ये सब अलग अलग है एक फल है कोई प्राप्त कर लिया तो सुखी जो प्राप्त नहीं किया दुखी किसको क्रोध हो गया ईश्वर श्रेष्ठ द्वैत स्वरूपतः दुख नहीं देता है जीव सृष्ट द्वैत क्योंकि वस्तु तो बाहर एक है किंतु मन में एक रूप बनता बनाता है जो मन में बनाता है मनोमय स्त्री वो सुख दुख देने वाला बाहर जो ईश्वर सृष्ट उस सुख दुख देने वाला नहीं है मनोमयी जो स्त्री है कोई किस रूप से मानता मानता है जिस रूप से मानता है कोई इष्ट कोई अनिष्ट कोई द्वेष्य इसी प्रकार उसको सुख दुख देने वाला है जो माया है सत जीव बंधक तो अभाव सर्वपद जीव का बंधक नहीं है और अज्ञान जीव सृष्ट द्वैत ही बंधक है और उसे अज्ञान भी स्वरूपत सुसुप्ति काल में है दुख नहीं देता है किंतु जब विक्षेप होता है अन्यथा विज्ञान होता है जागृत सपन दुख मिलता है माया स्वतः जीव बंधक नहीं अभिनवस्य अज्ञान से उत्पत्तु और नया अज्ञान उत्पन्न हो गया एक बार अज्ञान नष्ट होने पर उत्पत्तु कोई कारण नहीं है कारण अभावात अनादि अज्ञान की फिर निवृत्ति नहीं होगी एक बार ज्ञान से अज्ञान नष्ट हो गया कोई भय नहीं है प्रभुत फल कर्माक्षिप्तस्य च अज्ञानलेशस्य द्वैताभासस्य च विद्वत अनविभावकत्वात् दुर्बलत्व अनिश्चयते सम्यक ज्ञान से अमृतत्व हेतुत्व इत्यर्थ प्रवृत्त फल कर्म प्रवृत्तम फलम यस्य प्रारब्ध कर्म जो कर्म फल देने के आरंभ कर दिया उसको क्या कहते हैं प्रारब्ध प्रवृत्त फल से फल आरंभ कर दिया प्रारब्ध कर्म से आक्षेप करते प्रारब्ध कर्म रहता है ज्ञान होने के बाद भी उसका शरीर रहता है तो प्रारब्ध कर्म रहा प्रारब्ध कर्म का नाश नहीं हुआ अब प्रारब्ध कर्म रहेगा तो उसका कारण अज्ञान भी रहना चाहिए अब उपादान कारण अज्ञान के बिना कर्म कैसे रहेगा तो अज्ञान ले से कल्पना करते अज्ञान से स्वल्प ज्ञान रहता है वो प्रारब्ध कर्म समाप्त होने पर भूयश्चांते विश्व माया निवृत्ति निवृत्ति होती है और व्यवहार करता है ज्ञानी तो द्वैताभाष से द्वैत का भान होता है तभी तो भोजन कर सकता है भिक्षाटन कर सकता है उपदेश कर सकता है तो ज्ञान होने के बाद ये अज्ञान लेस रहता है जब प्रार्ध से आक्षिप्त तो होता है और ये भी होता है द्वैत भान होता है तभी तो कर्म का भोग होगा ये दोनों अज्ञान लेस द्वैत आभास ये तो है किंतु ये दोनों विद्वत अनभिभावक तो विद्वान को दबा नहीं सकते प्रारब्ध कर्म रहे द्वैत आभास हो जब निश्चित हो गया मिथ्या है सर्प सत्य समझ कर डर कर भाग रहे थे जब मालूम हो गया है सर्प सत्य नहीं मिथ्या है बच्चा खेलता है दूसरे को डराता है ज्ञानी के दृष्टि से अज्ञान ले से द्वैताभास मिथ्या है वो क्या करेगा जब जीवित था चूहा से बिल्ली डरती थी क्या चूहा जीवित है तो बिल्ली जीवित है चूहा से बिल्ली डरती है नहीं और चूहा मर जाने पर डरेगी जीवित अवस्था में डरते थे मरने पर क्या डरेगी इसी प्रकार द्वैत भाष ज्ञान जैसे उसको ही सब ज्ञान से नष्ट कर दिया और जो मिथ्या तो निश्चय हो गया उससे विद्वत क्या डरेगा विद्वत अनुविभावकवाद दुर्बलत्वाद ये दुर्बल हो गया द्वैत भाष सब निश्चयते सम्य ज्ञान से अमृतत्व हेतुतम सम्य ज्ञान मोक्ष का हेतु है ये निश्चय हो जाता है समय ज्ञान होने से मोक्ष होगा वह समय ज्ञान है जो अभिषेत्व ने ज्ञान अहम अस्मि ब्रह्म विषयत्व ने जो ज्ञान होता है मेरे से भिन्न है वो समय ज्ञान नहीं है अस असविषयत्व ने ज्ञान प्रत्यगात्मत्व अहम अस्मि वो अपरोक्ष ज्ञान अज्ञान का निवर्तक है तो इसलिए यहाँ पहले कहा विद्या विंधते वीर्यम बल है प्राप्त होता है तो बल है अमृतम अविनाशी अमृतत्व है अमृत बल का विशेषण कर दिया विद्या विंदते विद्यम अमृतम ओम शन्नो मित्र